Thank you. भाषा में काठ के लिए काष्ठ शब्द है काष्ठ और काठक शब्द का अर्थ तो कठिन प्रोक्तम कठिन अधिकम कट ऋषि जिसका प्रवचन करें या अध्ययन करें उसको काठक बोलते हैं परंतु ये जो वल्ली साथ लगी हुई है ना वल्ली कहते हैं लता को तो लता कहाँ होती है वो तो वृक्ष का आश्चर्य लेकर होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि काठक में वृक्ष तत्व भी समाया हुआ है क्योंकि ये बल्लियां जो हैं वो काठ का शिल्प ही है तो काठक क्या है से लेकर के छ पर्यंत ये जो दस अक्षर हैं इनका हृदय में विन्यास होता है तो ये काठक ब्राह्मण अंतर्गत होने से कच्छ ऋषि के द्वारा अधीत होने से वेद शास्त्र पुराण का सार सार हृदयस्थ जो परमात्मा है उसका निरूपण करने के कारण इस उपनिषद को काटकोपनिषद कहते हैं तो पहले अध्याय में परमात्मा का ऐसी निरूपण किया जैसे ये मिला ये मिला हस्तक प्राप्त में हुआ जिस सब जेवरों में सोना है ऐसी सब में परमात्मा है जैसे सब खिलौनों में मिट्टी है जैसे सब औजारों में लोहा है जैसे संपूर्ण कार्यों में उसका उपादान कारण है और कार्य जो है जड़ नहीं है दृश्य है बोला जड़त्व न अनिर्वचनीय है और उपादान कारण जो है वो भी जड़ नहीं है चेतन है तो चेतन उपादान जो कारण होता है वो वस्तुतः परिणामी कारण नहीं होता उसमें कारणत्व भी स्फुरणात्मक होता है इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में तो ये कार्य कारण भाव जो प्रपंच दिख रहा है ये बिल्कुल स्फुरणात्मक केवल प्रतीत होता है वस्तु नहीं है मालूम पड़ता है है नहीं होना कार्य में होना बना होता है और दृश्य में मालूम पड़ना पना होता है आप देखो दृश्य में और कार्य में फर्क होता है भू धातु का रूप है भवन होना और दृक वस्तु जो है ना दृश्य धातु जो है ज्ञानार्थक वो है दृश्य उससे मालूम पड़ता जो है उसको दृश्य बोलते हैं तो जो जड़ सत्ता से परिणामी सत्ता से जो उत्पन्न होता है उसमें कार्य कारण भाव बैठता है और जो चैतन्य में केवल दृश्य मात्र होता है उसमें कार्य कारण भाव आरोपित होता है कल्पित होता है तो ये तो ऐसा ज्ञान स्वरूप में स्वयं और जो मुझे मालूम पड़ता है तो मुझसे भिन्न नहीं क्या देश मालूम पड़े क्या काल मालूम पड़े क्या वस्तु मालूम पड़े क्या व्यक्ति मालूम पड़े क्या जाति मालूम पड़े क्या सृष्टि मालूम पड़े क्या प्रलय मालूम पड़े मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप और देशात्मक कालात्मक द्रव्यात्मक आत्मक व्यक्तियात्मक जितनी भी सामान्य विशेषात्मक स्फूर्तियाँ हो रही हैं वो सब मुझसे अभिन्न है मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं न वो मेरा आरंभ है न मेरा विकार है न मेरा परिणाम है न मेरी रचना है न उनके साथ मेरा कोई संकट है हुए सब है क्या बढ़िया निरूपण किया इस सर्वेशु भूतेशु न प्रकाश होते दृष्टि या बुद्धिया हाँ जरा बुद्धि की नोक पर बैठ जाओ और देखो नजारा देखो तमाशा क्या हो रहा है बुद्धि के सिरे पर बैठ करके बुद्धि के सिरे पर बैठ करके देख लो तमाशा वो कोटि कोटि ब्रह्मांड गीत की तरह उछल रहे हैं अवकाश में और उनमें एक एक में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं उनमें स्वर्ग नरक बैठे हुए हैं और सब मालूम पड़ रहे हैं और जिस अधिष्ठान में मालूम पड़ रहे हैं उसमें है ही नहीं जिस प्रकाश में मालूम पड़ रहे हैं उसमें है ही नहीं और मालूम सब पड़ रहे हैं तो वेदांत जो है वो प्रतीति का तो विरोधी है नहीं भान का विरोधी है नहीं केवल इनमें जो सत्यत्व का भ्रम है उस भ्रम मात्र का विरोधी है तो ये तो बड़ी सुगम बात थी फिर अब ये प्रश्न उठाया कि जब इतनी सुगम इतनी सरल इतनी सच्ची बात है तो कह पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धे है ये न तदभिभवात आत्मा न दृश्यते भला वो कौन सा प्रतिबंध है कौन सी रुकावट है ये बुद्धि के सिरे पर बैठ गए और देख रहे हैं जादू का खेल वो देख रहे तमाशा ये भला कौन सी रुकावट है भाई तुम्हारी बुद्धि में ये तुम्हारी बुद्धि क्यों अभिभूत हो गई है जिससे तुम अपने आप को न देख करके सारी दुनिया को तो देखते हो और अपने आप को देखते नहीं हो अपने आप को जाने नहीं सारी दुनिया को जाने ये क्या है ये तो जैसे हृदय कमल पर तुषार पात ही हो गया हो पाला ही पड़ गया हो अक्कल पर पाला पड़ गया जड़ता आ गई बुद्धि में अपने आप को न देख के दूसरे को देखते हैं तो प्रतिबंध क्या है तो तद कारण प्रदर्शन ज्ञान प्रतिबंध कारण है सतपन यत्न आरभ नान्य था क्योंकि यदि रुकावट ठीक ठीक समझ ली जाए कि किस वजह से चीज नहीं दिख रही है वो वजह क्या है कि जिसके कारण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य देश से अपरिच्छिन्न काल से अपरिच्छिन्न वस्तु से अपरिच्छिन्न और नारायण ये तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ हाँ, एक महात्मा तो कहते थे कि ये जो आंख में काला तिल है ना हाँ, इसकी वजह से ये काली दुनिया दिख रही है का ही हो रहा है सारा ये ब्लैक छोड़ो ये काला जो दिल है इसको छोड़ के इसके पीछे बैठ जाओ देखो क्या आनंद आता है तो अब रुकावट बताते हैं परांची खानी यत्रिणत स्वयं भू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् तो ये जो बहुत सी श्रुतियां बचपन से याद है ना उनमें है ये बोला हमारे बचपन से ही ये शुद्धि इनको शुद्ध शुद्ध हाँ। जब हे हे जसूदे तो बाल को सो कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमयी क्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वाने छान बोले भाई ये कुछ खाली खोड़र तुम्हारे शरीर में है खानी कुछ खाली खोड़र है खा, हाँ, खा माने खाली जगह शून्य ये जैसे खात्मा बोलते हैं खत्म बोलते हैं खर्च बोलते हैं तो उसमें ख ख जो है ना ख माने कुछ खाली जगह ये जैसे आंख है नाक है जीव है हाँ, त्वचा है ये ये कुछ शून्य स्थान तुम्हारे शरीर में आके जुड़ गए हैं शून्य स्थान तो ये कैसे हैं कि ये पक्षे भीतर की ओर नहीं देख के है ना ये हमेशा बाहर ही झांकते हैं तो कोई भी स्त्री हमेशा है ना अगर झरोखे लगी रहे खिड़की लगी रहे और छत बारजे पर खड़ी होके बस बाहर ही झांकती रहे और तो उसकी दाल जल जाएगी कि नहीं बटलोई में है ना रोटी जल जाएगी कि नहीं घर के काम धंधे पड़े रह जाएंगे कि नहीं तो ये जो बाहर दिन रात बाहर झांकना है बाहर झांकना है इंद्रियों का यही भीतर की पकी पकाई रसोई को जलाने वाला है हाँ, रसायन तो भीतर बिल्कुल परिपक्व है लेकिन ये तो दुआर लगी है गांव में गाली देते हैं किसी की बहू जो होती है ना बोले दुआर लगी बहू है जब देखो किवाड़ी के भीतर से बाहर ही झांक रही है घर में उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है तो बाहर झांक रहे हैं तो परान चिखानी व्यत्रिणत स्वयं हु परांची परा अंचंती गच्छंती इति ये बस आंख बैठी तो अपनी जगह पर ही है लेकिन दूर दूर के दृश्य देख लेती है अपने भीतर ही बना के फोटो देखती है भीतर अपना फोटो नहीं बनाती है या अपने मालिक का फोटो नहीं बनाती है ये बस पराए लोगों का फोटो खींचना उनकी बेटी ऐसी उनकी बहू ऐसी उनका घर वाला ऐसा है ना उनका देवर ऐसा उनका गोबर ऐसा उनका जेठ ऐसा है ना का खेल है हमेशा शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे में ही जानने का जाने आने वाले बटोही से मेल परदेसी से मेल है अपने को बिरहनी बनाने की यही रीति है तो इनका प्रेम किससे है कि जो अपने घर में मालिक दिल में मालिक बैठा है उससे प्रेम नहीं है और ये जो बाहर सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं सड़कने वाले जो लोग हैं ये परांची ये दूसरे को खींचने वाली है हो ये करांची है ना करांची है ना कराची कांची तो ये परांची है परांची हमारे पराये को हाँ ये खींचती हैं अथवा आचमन करते हैं हो आचमन करते हैं दूसरे पराये को पीती हैं इसलिए इनका नाम परांची है और लेकिन क्या किया जाए परमात्मा ने इनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया व्यत्रिणत स्वयं भू हल्की बना दिया हिंसित वाह घर में उस स्त्री की क्या इज्जत रहेगी क्या प्रतिष्ठा रहेगी क्या वक़्त रहेगी है ना व्यत्रिणत एक दिन घर वाली को ऐसी जगह पर जाहिर कर दिया है ना जहाँ जाने से उसकी सारी प्रतिष्ठा भस्म हो गई तो ये इंद्रियां जो बहिर्मुख है ना स्वयंभू स्वयंभू परमात्मा ने क्या किया कि इनको कहा तुम छोटी छोटी गुजारा लो अब तुम हृदयश्वरी नहीं हो गुजारा लो जाओ तुम अब संगीत संगीत विभाग में तुम रहो अब तुम वस्त्र विभाग में रहो का तुम पुष्प विभाग में रहो सौंदर्य विभाग में रहो का तो तुम इत्र संभालो ये कारखाने हैं ईश्वर के है ना तो इन्होंने जैसे ऐसे समझो कि घर के भीतर एक मालिक है और उसके पास पांच स्त्रियां हैं और उसने देखा कि इनमें मुझसे सच्चा प्रेम करने वाली कोई नहीं है, हैं? तो क्या किया बोले कि तुम मित्र का कारखाना संभालो हैं? और तुम भोजनशाला संभालो हैं? और तुम कपड़े का विभाग संभालो और तुम घर की सफाई अफाई सब देखभाल करो और तुम जरा रेडियो संभाल लिया करो है ना ऐसे पांचों को पांच काम में लगा दे और खुद सबसे असंग हो करके बैठ जाए कि बाबा ये हमारी प्रेमिका तो है नहीं ये बाहर घूमने वाली बाहर देखने वाली इनके उनके साथ जाने वाली हैं है ना ऐसे व्यक्त रहना हिंसी तमाम मैंने उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको खत्म कर दिया छोटे छोटे विभाग में उनको डाल दिया तो तस्मात परां पश्यति नान्तरात्मन अब ये तो विषयों के प्रकाशन में ये तो महाराज स्वागत अतिथि सत्कार विभाग में ये चली गई है ना जो विदेश से आवे का उनका सत्कार करो उनको घुमाओ सारे देश में है ना विदेशी विभाग में डाल दिया है तो इस आदि विषय का प्रकाश करने के लिए ये प्रवृत्त होते हैं तो बोले भाई ईश्वर ने आखिर ऐसा किया कर किया इसलिए कि उसकी रुचि जो है ना वो सबसे के रहने की एकांत में ही रहने की है अरे जो हमसे प्रेम नहीं करता है उससे उदासीन होना नहीं पड़ता है उससे उदासीनता तो स्वाभाविक हो जाती है तो ये स्वतंत्र है स्वतंत्र है माने किसी के हाथ में तो है नहीं किसी इंद्रिय के बस में तो है नहीं ये तो हर हालत में अपने आप को मस्त ही रखता है सबको तो छोड़ के सो जाता है आपने देखा कि नहीं सब आंख को छोड़ के सो जाए कान को छोड़ के सो जाए नाक को छोड़ के सो जाए जीभ को छोड़ करके सो जाए वो कान दुपट्टा महाराज है घर घर घर तो ये बाह्य वस्तुओं की तरफ इंद्रियों की दृष्टि चली गई और सब इंद्रियों के पीछे रह करके देखने वाला कौन है ये बात भूल गई पराक पश्यति अंतरात्मन अंतरात्मानम न पश्यति नान्तरात्मन ये द्वितीया के अर्थ में ही वेद में काल का नियम नहीं होता है हाँ, उसमें भवती और भविष्यति का भेद नहीं होता हो वेद में भविष्यति का अर्थ भवती होता है और भवती का अर्थ भविष्यति होता है क्योंकि वेद भगवान को मालूम है कि ये काल कल्पित है हाँ, ये नियम नहीं नियम नहीं है हाँ, उसमें पश्चात भी वही है जो पुरस्कार है जो सामने है वही पीछे है इसका मतलब वो उसमें पहले पीछे का भेद आगे पीछे का भेद नहीं है वो तत्व दर्शन बहुत विलक्षण है तो देखो अंत का अर्थ हुआ सूक्ष्म और आत्मा का अर्थ हुआ चैतन्य जो संपूर्ण दृश्य के मूल में चैतन्य रूप से विराजमान अपना आपा है उसको नहीं देखता है फिर क्यों कर तो देखने में जरा पीछे हट के बैठो पीछे हट के बैठो माने पांव से पीछे हाथ से पीछे नाक से पीछे मुंह से पीछे आंख से पीछे है ना ये दिल में दिल में जो खुदर खुदर हो रहा है ना जैसे दाल चुरती है वैसे दिल में खुदर खुदर खुदर अहम अहम अहम अहम हो रहा है उससे भी पीछे हट के बैठो उससे भी पीछे हट करके बैठो वो जो सोहम सोहम हंसा सोहम हंस हो रहा है वो भी हो के मत बैठो उसके साक्षी होकर बैठो हाँ। उसके भी जो सोहम हंसा हो रहा है उसके भी तुम साक्षी हो तो जहाँ है ना भले लोग जो होते हैं वो भीड़ भाड़ से बच के बैठना पसंद करते हैं हाँ धक्कम धक्की ना विक्षेप उसको अच्छा नहीं आता अनुकूल नहीं पड़ता है तो सबसे पीछे बैठो भाई अब कहो कि हम तो बस ये देखते हैं कि ये दिल रहा दिलड़ी ये रही है ना और ये आंख है ये कान है ये नाक है ये जीव है ये हाथ है ये पांव है और इनसे मालूम पड़ने वाली दुनिया है थोड़ा तो अंतर्मुख हो जाओ ये इसके सब तरीके हैं आपको सुना है क्योंकि साधन की चर्चा तो थोड़ी कम करते हैं जैसे आपकी दोनों आंख है और इससे बाहर देखता है अब चाहे आप आंख खुली रखें चाहे बंद रखें चाहे अध खुली रखें इससे कोई खास मतलब नहीं है ये तो जो आपके नारायण आपको पहला गुरु बता गया होगा कि आंख खुली रखना तो दूसरा जब आप बनावेंगे तो वो कहेगा कि बंद कर दिया करो और पहला गुरु बता गया होगा कि बंद रखो तो दूसरा मिलेगा तो कहेगा खुली रखो ये तो गुरु बदलने से ये झगड़ा खड़ा होता है तो प्रतिपद दृष्टि होती है अनुकूलित और अमा दृष्टि होती है बंद और पूर्णा दृष्टि होती है खुली ये तीनों का उपनिषद में विधान है पूर्णा दृष्टि से खुली आंख रख के भी भजन में बैठ सकते हैं और सामने आंख के अगर अंत चीज आती हो तो बंद आंख रख के बैठ सकते हैं और बंद आंख से नींद आती हो तो अब खुली रख के बैठ सकते हैं अधखुली आंख को अंतर्दृष्टि में ज्यादा उपयोगी समझते हैं अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निवेशोन्मेष वर्जिता सा मुद्रा सांभवी नाम सर्वतंत्रेशु गोपिता लक्ष्य हो अंतर ये पांच इंद्रियां तो पांच दरवाजे हैं और इन सबसे झांकने वाले इन पांच जरों को से झांकने वाले तो तुम एक हो इन पांच शीशों वाले घड़े में तुम एक बैठे हो इन पांच ओर से रोशनी जिनमें बाहर निकलती है उनमें तुम एक बैठे हुए हो अंतरलक्ष्य और दृष्टि ही दृष्टि खुली हो निमेशोन्मेश वर्जिता और पलक न गिरे न उठे पीठ की रीढ़ सीधी करके स्थिर होके बैठ जाए और निमेशोन्मेष वर्जित पलक न गिरे न उठे और लक्ष्य अंतर देखने वाले पर लक्ष्य हो और आस्तुली हो तो मुद्रा सांभवी नाम ये सांभवी मुद्रा है सर्वतंत्रेशु भूषिता साधन के मार्ग में इसको बहुत गुप्त करके रखा जाता है क्या वेदागम पुराणा ने सामान्य गणित आई हो किताब खुली और पढ़ लिया तो तो खुला हुआ एक ही वो सांभवी मुद्रा गुप्ता सुलभ रही वक्त कुलवधु तो वो है जो अपने शरीर को डट के रखते हैं हाँ, तो ये साधना है अंतरात्म दर्शन करना देखने वाले को देखना आप ध्यान में रखना यदि कभी आपको ईश्वर का दर्शन होगा तो भी आप देखने वाले ही रहेंगे आपके सामने राम आवे कृष्ण आवे शिव आवे नारायण आवे समाधि आवे वैकुंठ आवे है ना निराकार ईश्वर आपके सामने आवे यदि आप अपने से भिन्न किसी को भी जगत को जीव को ईश्वर को ब्रह्मा को प्रकृति को समाधि को देखेंगे तो हर हालत में आप देखने वाले ही रहेंगे और उस देखने वाले को जब तक नहीं पहचानेंगे कि ये देखने वाला कौन है अवेश अकाल अद्रव्य अविनाशी परिपूर्ण एक रस अद्वितीय जब तक उसको नहीं पहचानेंगे अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक दुनिया भर का नाम मालूम करना तो। एक पागल था तो उसको बनारस से लेके कलकत्ते तक सब स्टेशनों का नाम याद था सब वो सुनाता था बड़े शौक से हाँ, जब उसको बच्चे है ना छेड़ते थे उसको हाँ। कहना नहीं नहीं तुमको नहीं आता है भूल गया है बोले भूल कहाँ गया है लो हम बताते हैं वो बनारस मुगल सराय कचमन से पल्ली शुरू हो गया तो सब याद था तो उससे पूछो कि तुमको जाना कहाँ है तो मालूम नहीं है, हाँ। तो तुमको सारे गांव की खबर है परंतु अपनी खबर है कि नहीं इस पर विचार करो और अगर अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना कश्चित धीर प्रत्यगात्मान क्षत आवृत चक्षु अमृतत्व में कोई कोई बिरला पुरुष होता है जिसके मन में अपना सौंदर्य देखने की इच्छा होती है आपने सुना होगा दक्षिण में आलवार संत हुए ना उनमें एक गोदा अंबा हुई गुदा हुआ उनका नाम और बारह में से एक मुक्त है वो और द्राविड़ वेद जिसको बोलते हैं ना द्राविड़ वेद उनमें अधिकांश तो उन्हीं का है गोदा अम्बा की व्रतचर्या गोदा अम्बा का सुप्त गोदा अम्बा की जो प्रिंसी है उसका तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज रोज पाठ किया करते थे तो उसके पिताजी रोज ठाकुर जी के लिए फूल चुन के माला बनाते थे ठाकुर जी को पहनाने के लिए तो जब माला बना के और वो और किसी काम के लिए चंदन वंदन के लिए जाते वो गोदा बच्ची थी वो माला अपने फूल में लगा के और लटका लेते और पहन लेते और जाके सीते के सामने खड़ी होते और देखते कि ठाकुर जी तो ये माला पहनते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं तो मैं कितनी बढ़िया लगती हूँ और ये ये था अपना सौंदर्य देखते तो बोले कि वाह मैं तो ठाकुर जी से भी बढ़िया लगती हूँ और शीशे में अपने को देख के शीशे में अपने को देख कर बोलती ठाकुर जी को माला पहनाते हैं तो वो जितने अच्छे लगते हैं उनसे अच्छी तो मैं लगती हूँ एक दिन पिता ने देख लिया देख लिया तो बड़ा डांटा वो माला नहीं ले गए ठाकुर जी के लिए तो गए तो ठाकुर जी ने पूछा कि क्यों भाई आज माला क्यों नहीं लाए बोले महाराज लड़की ने वो दुष्ट लड़की ने वो चिस्त कर दिया माला पहन लिया बोले अरे वो तो रोज ऐसा करती है और हमको ज्यादा मजा आता है उसमें तुम अपनी लड़की की पहनी हुई माला ही हमारे लिए लाया करो है ना फिर श्री रंग मोहित हो गए हो उसके ऊपर ब्याह किया उसके साथ तो ये तुम्हारा जो सौंदर्य है ये सारी से माया का सौंदर्य लगा करके ईश्वर इतना सुंदर लगता है तो तुम ईश्वर का सौंदर्य लगाकर कितने सुंदर लगते हो जरा अपने को तो देखो ईश्वर में तो माया का सौंदर्य है तो अपने सौंदर्य का अपने माधुर्य का अपने जी का है ना तुम्हारे अंदर वो सौरभ है जिससे जीव जगत ईश्वर में सुगंध फैलती है तुम्हारे अंदर वो रस है जिससे जीव जगत ईश्वर रसमय हो जाता है तुम्हारे अंदर वो सौंदर्य है जिससे संपूर्ण संसार का सौंदर्य जीव जगत ईश्वर का सौंदर्य जिससे चमकता है तुम इतने कोमल हो इतने सुकुमार हो है ना कि द्वैत तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता तुम्हारा जो स्वरूप संगीत है वो इतना मधुर है इतना मधुर है तुम्हारा स्वरूप संगीत कि उसमें जीव ईश्वर जगत का जो संगीत है वो सब विलीन हो जाता है तो ये अपना आपा संगीतमय परम सुकुमा सौ सौस्वर्गीय सौकुमार्जीय सौंदर्जीय सौरूपीय सौरभ्य सौरभ्य ये संपूर्ण संपूर्ण विश्व सृष्टि का सौंदर्य जो है ये तुम्हारे सौंदर्य से तुम्हारी सत्ता से सत्तावान हो रहा है तुम्हारे ज्ञान से ज्ञानवान हो रहा है तुम्हारे आनंद से आनंदवान हो रहा है जरा अपने इस परम प्रेमास्पद परम मधुर परम सुंदर परम मनोहर अपने आप को तो देखो तुम कौन हो बोले जब तक बाहर बाहर घूमते फिर रहे हैं तब तक नहीं मालूम पड़ता कश्चित धीर प्रत्यगात्मान क्षत कश्चित कोई कोई कोई कोई का अर्थ है जो बैल की तरह घास भूस खाने में ही निपुण नहीं है बैल तो ये नहीं उसके सामने घास डालो भूस डालो खली डालो निर्विशेष रूप से खाता है तो ये बैल है ना ये बैल के लिए नहीं है ये विवेकी के लिए है जो पहचान सके कि बाह्य आनंद क्या होता है और अंतर आनंद क्या होता है कश्चित कश्चित मन विवेकी ये विवेकी पुरुष के लिए है विवेकी पुरुष के लिए कश्चित तो जिसको धर्मा धर्म का विवेक है जिसको ध्येया ध्येय का विवेक है है ना और जिसको घिया गेह का विवेक है वो विवेकी और धीरा धत्ते इति धीरा ये धीर शब्द की विपत्ति भी बड़ी विलक्षण विलक्षण है एक कर्ता में रख प्रत्यय हो गया धत्ते इति धीरा जो मन और इंद्रियों को करे का अर्थ है कि जैसा अपना ज्ञान है उसके अनुसार मन इंद्रियां चलें तब तो धीर है जैसे जिसको तुम बुरा समझते हो उसको न करो जिसको अच्छा समझते हो उसको करो तुम्हारी समझ और तुम्हारा आचरण एक पुल पर है कि नहीं एक किनारे पर है कि नहीं समझ हो उस किनारे पर और आचरण हो इस किनारे पर तब तुम धीर नहीं हुए धीर कब हुए कि जब समझदारी और आचरण दोनों एक किनारे पर एक किनारे पर हो धीरा धीयम ईरयती इति धीर धीयम राति इति धीरा धीयम रक्षति लोक में धी बोलते हैं बेटी को ना हमारे गांव में बोलते हैं दिया तो दिया बोलते हैं बेटी को धीरा का अर्थ ये है कि ये जो बेटी है ना अपने घर में <laughs> ये सुरक्षित हो गए ये जिस चीज से जिस चीज से जाके है ना जुड़ने न पावे मिलने न पावे बोला ये बेवकूफ चाहे जिसके साथ जाके शादी कर ले जोड़ ले रिश्ता ऐसा नहीं धीरा तो बुद्धि वृत्ति जो है वो या तो आत्मा में स्थित हो और या तो निर्विषय हो और यदि सविषय भी हो तो विषय में महत्व बुद्धि न हो किसी के साथ हो तो उसको बहुत कीमती न समझता हो और खाली हो और नहीं तो आत्माकार हो अपने परम प्रेमास्पद के साथ जुड़ा हो वृत्ति की तीन स्थिति अभिष्ट है अगर वो प्रपंच में है तो प्रपंच के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है ऐसी कोई स्थिति संसार की नहीं है तो आओ संसार का प्रलय कर रहे इसके लिए योगी लोग समाधि लगाते हैं तो सारे संसार का प्रलय तो नहीं कर पाते लेकिन अपने मन में से संसार का प्रलय करते हैं देखो कोई कोई ऐसे होते हैं कि आओ देवता को खुश करके सबको रोटी दें खिलाओ रोटी खिलाओ उड़िया बाबा जी महाराज के मन में ऐसा संकल्प तो उनसे देवता ने कहा कि तुम सबको रोटी नहीं दे सकते जो तुम्हारे पास आवे उसको दे सकते हो एक बात हुई ना तो बोले आओ एक नया ब्रह्मांड बनावे विश्वामित्री सृष्टि बनावे विश्वामित्र ने कहा हम नया ब्रह्मांड बनाएंगे तो नया ब्रह्मांड बनाने के लिए उनका संघर्ष निष्फल गया हो सारी सृष्टि को भोजन कराने के लिए जो संघर्ष था ना वो निष्फल गया हो सारी सृष्टि के प्रलय का जो संघर्ष है वो निष्फल गया तो अपने चित्त को असल में अपने चित्त को सृष्टि स्थिति संहार के संकल्प से मुक्त करना है अपने चित्त में ही सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति जो महत्व बुद्धि है ना वो महत्व बुद्धि निकालनी है तो या तो सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति महत्व बुद्धि न रहे इसमें कोई फेरफार करने के लिए अदल बदल करने के लिए है ना बुद्धि को गढ़ना नहीं है और या तो निर्विषय रहे और या आत्माकार रहे सिवाय पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो इसके लिए चार बात की आवश्यकता होती है धीर होना आवृत चक्षु होना अमृतत्व की इच्छा होना और प्रत्यगात्मा का दर्शन होना ये साधना की चर्चा है तो अभी ये कल आपको सुना